ब्रह्म हाँ, ज्योति मैं ज्योतियों की भी ज्योति भगवान का भगवान ज्योतियों की भी ज्योति है मन को भी देख रहे हैं बुद्धि को भी देख रहे हैं देखने वाली आंख को भी देख रहे हैं देखने वाली आंख को देख रहा है मन मन को देख रहे बुद्धि बुद्धि को देख रहा है जीव और जीव सुखी है दुखी है शांत है शांत है उसको भी देख रहा है परमात्मा वास्तव में परमात्मा की सत्ता लेकर ही सब सत्तावान है जैसे पावर हाउस की सत्ता लेकर ही सारे बल्ब सारे फ्रिज सारे पंखे सारे मोटर के ट्यूबवेल के और जो भी सिस्टम विद्युत से संचालित है सब उसी से जीवन लेकर कार्य करते हुए दिख रहे हैं क्या पंखा हवा डालता है दिख रहा है पंखा हवा डालता है लेकिन उसमें सत्ता विद्युत की दिख रहा है फ्रिज बर्फ बना रहा है लेकिन सत्ता विद्युत विद्युत ही बर्फ बना रही है निर्देश से ही चाय बना रही थी अब कितना विपरीत गर्मा गर्म चाय बनाना और ठंडी बर्फ बनाना एक विद्युत विपरीत धर्म कर सकते हैं तो परमात्मा में विरुद्ध धर्म क्यों नहीं पुण्यात्मा और पापात्मा सज्जन और दुर्जन दोनों को सत्ता दे रहे सगरी को भी सत्ता और फ्रिज को भी सत्ता लाइट दे रही है ऐसे ही दुर्जन को और सज्जन को दुर्जन का हृदय सगड़ी है और सज्जन का हृदय फ्रिज है बस ऐसा होता है और दोनों में सत्ता एक पर है चैतन्य कांटे में भी पृथ्वी का ही रस है और फूल में भी रस वही है एक और गुलाब में फूल और कांटा लगा कांटा भी उसी रस का परिणाम है और फूल भी उसी रस का परिणाम है उसी पौधे के नीव का परिणाम ऐसे जो कंटक स्वभाव के लोग हैं वो भी चैतन्य का ही सत्ता लेकर दे रहे हैं दिन मधुर स्वभाव के लोग है वो भी परमेश्वर की सत्ता पे आ वो परमात्मा को जिसने जान लिया उसका दुर्जनों के प्रति घृणा और सज्जनों के प्रति आकर्षण नहीं रहता दोनों के प्रति समता रहती और समता से जो अमृत होता है उससे सज्जन भी पावन होते हैं और दुर्जन भी सज्जन होने लगते हैं ऐसा समता उन महापुरुषों को मिल जाता है जो सत्य को जान लेते रहस्य को जान लेते उसी रास्ते पर समय टिक जाते हैं उनकी दृष्टि इतनी पावन होती है तो उनकी दृष्टि में सज्जन नहाकर सज्जनता के गर्व से रहित हो जाते हैं और दुर्जन नहाकर दुर्जनता की घृणा से रहित होकर दुर्जनता से ऊपर उठकर सज्जनता के रास्ते चलने लगते ऐसे उनकी ब्रह्म ज्ञानियों की पावन दृष्टि होती है उनके सज्जन की गहराई में दुर्जन की गहराई में उनको ब्रह्म दिखता है परमात्मा दिखता जिन्होंने अपने अंतर्यामी आत्मा को परमात्मा रूप में देख लिया है उनकी दृष्टि बड़ी पावन है उनकी दृष्टि से दिव्य प्रमाण दिव्य वह बरतते रहते हैं जहां बैठते हैं उठते हैं उनके शरीर के इर्द गिर्द भी दिव्य प्रमाण बिखरते रहते हैं आभा मंडल होता है अति सूक्ष्म आभा मंडल को झेलने के अधिकारी होते हैं तो उनको तुरंत एहसास भी होने लगता तुलसीदास जी ने कहा ज्ञान मान जहाँ एको तो नाही तो ब्रह्म समान सब मान एक आत्म परम विराज और परम वैराग्यवान सुन सुन सिद्धि तीन गुण त्याग सिद्धि की सिद्धि सिद्धि को सिंधे के नहीं समझ गए तीनों गुणों को भी माया का परिवार समझ गए उसका भी ऊपर अपने परमात्मा स्वरूप में जोड़ गए ऐसे ज्ञान हो वैसे आस्तिक लोग जो हैं धीरे धीरे ज्ञानवान हो जाते हैं उनको पता चलता है कि अपना आत्मा ही परमात्मा है बाहर के परमात्मा शुरुआत में माने थे जैसे एबीसीडी सीखने के लिए बाहर के चिन्ह मानने पड़ते हैं कक्का खक्का सीखने के लिए बगला नो ब छत्तीस नो छ जमरुख नो ज ચકલાનું છે मलंगों खड़ियानों पर ये सब बाहर के खड़िए आदि रखने पड़ते हैं तो ऐसे ही बाहर के जब अपनी फूल दृष्टि होती है तो भगवान का श्री विग्रह अत्यंत आवश्यक होता है जब बच्ची बढ़ जाती है सूक्ष्म हो जाती है तो भगवान क्या एक ही रूप में थोड़े मेरे भगवान है एक ही मूर्ति में मेरे ठाकुर जी थोड़े मेरे तो ठाकुर जी अनंत मूर्त अमूर्त सब मेरे परमात्मा होते ही बैठे हैं ऐसा उस साधक को अनुभव होने लगा फिर वो वो पौधे से फूल तोड़कर भगवान को चढ़ाने नहीं जाएगा क्योंकि पौधे में भी देखेगा कि भगवान ने सारा संसार जो भगवान है तो पौधे में भी तो भगवान की सत्ता है फूल होकर महक रहेगा प्राणी मात्र साक्षात शिव स्वरूप है यानी सब वासनाओं ने अब अज्ञान ने शिव को जीव की भ्रांति में जकड़ लिया भगवान की कसम के कोई भगवान से कम नहीं है लेकिन जानते नहीं ना वासना के कारण तुच्छ हो गए अब हम लोग बुद्ध ने देखा कि लोग समझते कि भगवान कुछ है अलग है और महान है और अपन तुच्छ है तो ऐसा तुच्छ तुच्छता का भाव तो भी आदमी तुच्छ हो जाता है इसलिए बोलो तो भगवान भगवान नहीं है अपने में निर्वासनित हो जाओ तो उनका एक उपदेश देने का तरीका जरा फर्क था तो लोगों ने भगवान बुद्ध को नास्तिक मान लिया तो भगवान भगवान नहीं जिसको आकाश आकाश में भगवान मान के बैठते हैं ऐसा भगवान तो भगवान क्या है जो एक जगह है दूसरी जगह नहीं वो भगवान क्या है जो हमारे से अलग है वो भगवान कैसा जो एक जगह पे दूसरी जगह में नहीं हो भगवान कैसे है भगवान तो सर्वत्र है तो इधर उधर कहीं ठोके हुए भगवान मानते हम लोगों के लिए तो जरा कड़क उपदेश है कि नहीं है तेरा भगवान बना अंदर सौ तो साल अरे जिसको जिसकी सत्ता से तो भगवान खोजता या मानता है वही उसी को खोज खोजने वाले को जो भगवान खोज रहा है उसी को खोज तो वही मिल जाएगा जो ईश्वर को खोजता है उसी को खोज लेगा तो कहीं वही तो नहीं है ऐसे ही जिस पर आदमी रवाना होकर जिस सत्ता पर आरूढ़ होकर ईश्वर को खोजने जाता है वो सत्ता ही ईश्वर पर होगा वही ब्रह्म है वही परमेश्वर है वही परमेश्वर है वही देवेश्वर है जिस वृत्ति से जप करता है तो भगवान तुम मिले वो वृत्ति को खोज ले जप करने की जहां से फोन आता वो मिला मिलाया है तब जब सफल हो जाए क्यों चित्त की बजाय इसे बोलते हैं कि गुरु का ज्ञान के बिना बड़े से बड़ा प्रपत्ति हो और क्या तो दूसरी सृष्टि बनाने की शक्ति रखने वाला हो ना का मित्र जैसे वो तो ज्ञानी गुरु के कृपा के बिना नहीं करो गुरु बिना ने भी इन न कोई चाहे बिरंगी शंकर सम हो बिरंगी माना ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी जैसा सृष्टि करने का सामर्थ्य शिव जी जैसा संहारक बल तो गीता होता गुरु की कृपा के बिना यह बात समझ में नहीं बहुत मेरे आदमी नहीं कर सकते मजा तो आता है लेकिन यही परमेश्वर का रस है ये पता नहीं चलता रस भी परमेश्वर का और भोक्ता भी परमेश्वर ऐसी बात रस का भोक्ता और रस ईश्वर और ईश्वर को देखने वाला दो नहीं होता वास्तव में ईश्वर से ही ईश्वर देखता है जैसे आईना में तुम से ही तुम देखते हो कि नहीं लेकिन आईने में दूसरे होकर देखते गए है नहीं आईने में तो देखते गए मैं ऐसे देख के आईने में देख जाए ये मैं उनका तो बेड़ा पार होगा अब तो ऐसे शंकर अच्छेपन करे मीठेपन करे अच्छेपन करे रघुमल ने अपने सत्संग से पूछा कि देखो क्या बोलता है बोले तो संतरे बेचने वाला चिल्ला रहा नहीं बोलता क्या बोले मीठे संग करे अच्छे संग करे बोले देखो भाई ये कहता कि अच्छे के संग पर आ जाता है है जो एक रस रहता है एक रस रहता है आत्मा आत्मा का संग आत्मा का संग कौन करेगा हम आत्मा को आत्मा का संग कर नहीं सकता रात को दिन का संग कर नहीं सकती और दिन दिन तो होते ही होते हैं प्रकाश तो प्रकाश ही होता है आप अच्छे का संग कौन करेगा अच्छे में थका आत्मा है आत्मा का संग कौन करेगा अनात्मा को संसार नहीं सकता और आत्मा आत्मा दो नहीं होता बोलते बोलते वृत्ति शांत हो जाए हो गया अच्छा सर क्या हो गया अच्छा प्रोजेक्ट खोजत कबीरो गए हिराए खोजने वाला खो जाए अब हुआ सकता बाकी का हुआ किसका पहले खोजे तो गयो कबीरो फिराए ईश्वर को खोजते खोजते खोजने वाला खो जाता है संकल्प दशा आ जाती है निष्कल्प कोई बात ना ईश्वर को पाने की भी इच्छा नहीं सब ऐसी नीचे अवस्था आ जाती सब हो गया सत्संग टॉप लेवल में आखिरी उसके पहले तो सब मध्यम शुरुआत वाला सत्संग मध्यम सत्संग उत्तम सत्संग ये है आज की सत्संग वो तो वर्णन से परे हैं परमात्मा अब आया सत्संग देखो परमात्मा तो वर्णन से परे है परमात्मा तो लाभ बयान है परमात्मा लाभ बयान है ऐसा करके भी तो उसका बयान किया जा रहा है समझ में नहीं आता ये भी एक समझाने का तरीका है कि समझ में नहीं आता ऐसा समझ के निसंकल्प हो जाओ निर्वाचक हो जाओ निसंकल्प हो जाओ समझ में तो नहीं आता लेकिन समझ स्वरूप है वो वो समझ स्वरूप है सारी समझे उसी से आती है तो अखंड ज्ञान स्वरूप मन में बुद्धि में जो ज्ञान आता है या नेत्रों में जो ज्ञान आदि की आभाव महसूस होती है उसी की सत्ता से जैसे आकाश सबको झांप रहा है सबको छोड़ देता है ऐसे ही चिदाकाश परमात्मा सबको व्याप रहा है सबको छोड़ देता है वैसा परमात्मा उसका बयान नहीं हो सकता सारे बयान उसके आगे छोटे पड़ते बयान करते करते मन बुद्धि पावन करते करते छोटे पड़ते ऐसे करके मन बुद्धि उसमें लीन हो गए हो गया परमात्मा में माला श्वासोश्वास की जगत भगत के बीच जो फेरे थे गुरुमुखी ना प्रेरक ऐसा कबीर जी ने और भी कहा है के दिन में कीजिए कई बार आसो जहाँ का मेह ऊन बहुत करे उठता आसो मास की बरसात थोड़ी भी होती ना बड़ा फायदा करती छूटा ऐसे ही साधु संघ सत्संग जीवन में बहुत फायदा है कई बार न कर सके तो दिन में कीजिए दो बार दो बार तो कम से कम कर दो बार भी नहीं करें एक बार करें सप्ताह में करो सप्ताह में नहीं तो महीना में महीना में नहीं तो भी नाम कल्याण करने के लिए साधु संग है अब साधु कौन है ये तो हो गया संकेत मार्गदर्शन हो गया मध्यम सत्संग हो गया अब साधु कौन है और दर्शन क्या है उनको इन आंखों से देखना उनके बाहर के विग्रह उनका भौतिक दर्शन है उनके विचारों को देख सुनना है उनकी आध्यात्मिक क्रियाओं कलाओं को देखना है दैविक दर्शन और उनके तत्व को अपना आत्म रूप से स्वीकार करना ये आध्यात्मिक उनका दर्शन दर्शन भी कैसा करते हैं उस पर भी विचार करता है कई बार तो रसोड़ा भी दर्शन करता है ड्राइवर भी दर्शन करता है आदि भौतिक विग्रह का दर्शन करेगा तो लाभ तो होगा लेकिन उतना लाभ नहीं होगा जितना गुरु के आध्यात्मिक और आदि दैविक तत्वों का अनुभव होगा लगता रहेगा उत्तम शिष्य तो हजारों माइल गुरु दूर हो फिर भी उनको उपदेश और चिंतन को याद करके अपनी उन्नति कर लेता है जैसे पेट्रोल दूर से ही आग को पकड़ लेता है ऐसे उत्तम शिष्य दूर से ही गुरु की कृपा को झेल लेता मध्यम शिष्य कपूर जैसे जरा आग छुआ नहीं करती पेट्रोल तो ठीक लेता आगे कपूर पड़े पर और घनिष्ठ होते हैं कोयले जैसे केरोसिन डालो उनको तब धीरे धीरे आग पकड़ता है कोलता है ये तीन प्रकार के लोग को फायदा उठाते हैं चौथे होते केड़ जैसे तेल के फड़ जैसे कितना भी भी पकड़ के बैठो तेल के फड़ क्या आग पकड़ेगी लिली पेड़ से आग पकड़ती ये અરે કે કેળના ખેતરમાં આગને આગ લાગે હોય જ નહીં ખેતર નહીં હોય એટલે બધું સુકાઈ ગયો તો લાગે पेड़ के फड़ जैसा होता है उसका आग नहीं पकड़ता गुरु की कृपा उसके हृदय का कब्जा नहीं लेता गुरु मंत्र तो ले लेता लेकिन गुरु की कृपा उसके हृदय में प्रविष्ट नहीं होती संसार के इतनी कितना इतनी मोह माया इतना अहंकार है कि पेड़ के फड़ जैसा होता है अब तो ऐसा आदमी सोचता कि मेरे भी तो गुरु है तुम्हारे भी गुरु है मेरे भी गुरु तुम और हम गुरु भाई गुरु भाई तो सही लेकिन एक गुरु भाई का हृदय है बस वही है गुरु की कृपा को यूं झपेट लेता पकड़ लेता दूसरे का है शत्रु जैसा तीसरे का है खोल से जैसा है चौथे का है खेल के पड़ देता गुरु तो एक के एक लेकिन साधकों में फिर अंतर हो जाएगा तो विवेकानंद होकर निकलेगा लेकिन दूसरे को उतने विवेकानंद नहीं होता है शिष्य तो थे और भी राम करते हैं दिलासा बापू के हमें आरती के समर्थ रामदास के भी निकल आए अपनी भी तत्परता जितनी तीव्र होती है दिव्य होती है उतना ही मन महात्मा से दिव्य ला होता है तत्परता है जो मेरे के पास हो तो, मेरे को परमात्मा मिले ऐसी तत्परता हो जाए तो मेरा कार्य वीजा मिले वीजा मिले पासपोर्ट मिले दुकान मिले कुर्सी मिले तो सब खोल से जैसा अंतर है ईश्वर ही मिले है ईमानदारी से सब नहीं भाषा हो तो ईश्वर જોઈએ તો બાપુ આટલું જરા કર્યા પણ બધું ભજન કર્યું पेड़ के फल देता જે આટલું જોતા એ થાય એના કરતા ઊંધું થાય તો વાંધો નહીં પણ મને ઈશ્વર પ્રાપ્તિ થાય આદમી જલ્દી ભોય સુવાળું ભૂખ મારું ઉપરથી મારું માર એટલું કરતા હરિભજે તો કરી નાખું નહીં થાય એક જરા લગામ થયું કે બાબા તો હવે કડક થઈ જાય આપણે દૂરની સેવા કરી ભાગી જાય एक महात्मा नाम शेर सिंह बताया नहीं गला कहा शेर सिंह तू तो और दिल से नहीं नहीं मैं अगर नाम है शेर सिंह मैं तो शेर हूँ तू तो शेर से तो जहाँ कहता रहा तो उधर शेर में चित्र रहे तुमने हम सुनाया तो हमें मानिए तू शेर तो से तो मान तो गए हाथों पर दिला रंग रंग लीला कलर में सुनो सुनो लीलाओं में बड़ा मशीन दी है મેળાઓમાં બધા મશીન થઈ ગયા મુક્ત એટલે ગયો સુમણ સુનાવા એટલે આ મૂક્યું સૌથી લાગશે ને શું કરે છે ત્યાં એની પૂંછડી બનાવે છે અત્યારે તો પૂંછડી વિનાના સીટ શેરની તો હાવ પતલી કમર હોય છે એટલે એટલી બધી પતલી કમર નહીં છોડે તો શું હોય કમર વિનાનો બનાવે પૂંછડી કમર વિનાનો સિંહ બનાવે તો પેલા પછી જુદી રીતે જુદી જગ્યાએ મૂકી મશીન અને ઉભરો શું કરે આ સિંહના કાન ચિત્રું અરે જે સિંહને પૂંછડી નહીં કમર નહીં એને કાનની જરૂર શું છે ગલામાં તું કાન વિના કમર વિના પૂંછડી વિના નો સિંહ ડરી દે શું કરે છે આ સિંહ નો પંજો દોરું છું હવે કાન અને પૂંછડી નથી એને પંજાની જરૂર શું એટલે ભાઈ ચકિત થશે હવે મારે દોરવું થી શું દોરવું હવે મૂકી કે ચાલો એનો આગળની આંખોનો ભાગ જરા ચીતરી આપું જરાકમાં સિંધવે શું કરશે તેની આંખની દાઢી ચિત્ર અરે કે જેને પૂછડી ના હોય જેને કમર ના હોય એની આંખ ચીતરવાની શું જરૂર પેલા ભાઈએ શેર ઠેકાણે મૂકશે કાન પકડીને બહાર કાઢે કે જા જા મોટો શેર છીન થતો કોઈ ખમવાની તો તાકાત નથી ને બાણા બનાવે છે પૂંછડી વિનાનો શેર સિંહ દોરે છે કાન વિનાનો સિંહ બનાવી દે કમર વિનાનો સિંહ બનાવી દે આંખ વિનાનો સિંહ બનાવી દે पंजाबी ना मोटी बना हुए देवताओं का तो बना हुए महाराज संसार में कोई प्रतिकूलता खोलता तो कोई अपमान तो कोई चिकित्सा सम्मानित आकर ना हो तो मैंने गुरु जी मैंने तो, तो सिद्ध बना रही है शुभ बना रही सिद्ध इसकी सारी उम्र भगवान सब में है सब रूपों में वही है ऐसा उसने चिंतन किया दूसरों को उपदेश भी दिया ऊपर के बीमार हकीमों ने कहा कि अब एक बूंद भी अगर पानी पिलाते हो पंडित जी से तो, तो फिर हाथ धोने पड़ेंगे पंडित का लगा प्यास कुटुंबियों को कहा देखो डॉक्टरों ने हकीमों ने मना किया है पानी पीने का शरबत पीने का एक बूंद भी प्रवाही पदार्थ नहीं लेने का अब रहा नहीं जाता तरबूज लाओ और हाँ, इसका खब वैस निकालो तरबूज का और बुलाओ ब्राह्मणों को पवित्र भक्तों को और उनको पिलाओ सारा जीवन जो सुनाया है सुना है उसका अनुभव करना है और लोग पीते गए और उनको एहसास होता गया सात मिनट के इम्पॉसिबल नहीं है और दूसरी बात सच पूछो तो ये शरीर के जितने वर्ष हुए उतना ये वर्षगांठ शरीर की मनाना मैं दे हूँ ये पक्का करना है बर्थडे का शरीर का मनाना ही नहीं चाहिए उन पुरुषों का मनाओ जिनके आने से दूसरों का कल्याण हुआ मेरा डुबले की यात्रा है शरीर की यात्रा है शरीर का जन्म हो शरीर के वर्ष हुए हमारा जन्म नहीं हुआ ऐसा समझना चाहिए नहीं तो कभी कभी तो तुम अपना मनाओ न मनाओ तुम्हारे कुटुम्बी मनाए पड़ोसी मनाए माँ बाप मनाए लेकिन फिर भी अगर असावधान रहे तो देह अध्यास पक्का हो जाएगा ये और जोखिम है हमारे लिए तो खतरा है और क्या है अगर गुरु महाराज की कृपा नहीं होती तो हम समझते कि हाँ सचमुच अब पैतालीस साल हुए हम बयालीस हुए और मेरा जन्मदिन आ रहा है लेकिन गुरु महाराज की प्रसादी है मैं तुम्हारे चरणों की कसम खा के खाता हूँ कहता हूँ अपनी कसम खा के बोलता हूँ कि हमारा जन्म ही नहीं अपना न तो जाके मना मेरा जन्म ही नहीं हुआ है जन्म होता है देह का आत्मा का जन्म नहीं होता घड़े का जन्म होता है आकाश का नहीं होता घड़े में जो आकाश आता है ना उसको घटाकाश बोलते हैं तो घड़े बन घड़े बनने का तो तिथि तारीख हो सकता है लेकिन घड़े में आकाश आया क्या तो था ही ऐसे जिसको बोध हो जाता है उसको पता चलता है कि हमारा कभी जन्म नहीं और मृत्यु भी नहीं लेकिन जिस देह के द्वारा इस तत्व का पता लगा उसका लोग आदर करो अनादर करो वो उनका पुण्य है उनका भाग्य है उनके प्रारब्ध उनका मौज है उधर ही बैठ प्रभात काल में आओ ध्यान ध्यान करोगे तो समझ लो हम राजी हो गए उस दिन ध्यान में बैठना हम भी इधर ध्यान में बैठेंगे सुबह या मंगल रात को बैठना हम भी इधर बैठेंगे इधर बैठेंगे माना तुम्हारे दिल तक पहुंच सकते हैं इधर बैठे बैठे तुमने तालियां तो बजा दी लेकिन समझे नहीं जिन्होंने नाम दान लिया है अथवा जो उधर शिविर में ध्यान में आ गए उन लोगों का अनुभव होगा कि स्वामी जी बर्थडे के दिनों में तो थोड़ी गहरी यात्रा कर लेते हैं ठीक है लेकिन तुम्हारे दिल में तो उसी दिन बैठते ऐसी बात नहीं जब शिविर में आ गए ध्यान में आ गए तब तो बैठे हैं हाँ, समझ लेना हाँ कहें चाहे न कहें लेकिन हिसाब सब रहता है हाँ क्या छोड़ा जो घर तो रहा रिश्ता किसी से क्या छोड़ अपने दिल भर को फिर मिलना किसी से क्या तू बड़ी न बेल पड़ा अपने यार से खेल बाबा हुआ तू फकीर तो फिर रहा नाता किसी से क्या मरने के बाद आश्रम छोड़ना है तो जीते जी छोड़ दिया तो क्या हरकत आई मौज फकीर की दिया झुंपड़ा को फूक डीसा छोड़ के चल दिए सिद्धपुर का आश्रम छोड़ के चल दिए ये छोड़ के चल दिया तो चल दिया चला जाऊंगा ऐसा नहीं कहता हूँ ऐसा नहीं कि मैं आऊं तो कभी वो गया गए <laughs> ऐसा नहीं लेकिन अभी कभी कभी उसकी उसकी मर्जी होगी तो ऐसा हो जाएगा ओम ओम ओम जिनको जगाना था उठाना था उत्साह देना था दे दिया अब कोई आएगा जिसके भाग्य में होगा जिसको चलना होगा चल पड़ेंगे चलते रहेंगे गाड़ी कब तक इंतजार करेगी पैसेंजरों का हवाई जहाज कब तक इंतजार करेगा पैसेंजर होगा पक्षी कब तक एक डाल पर बैठेगा गीत गाता रहेगा उसकी मौज आ गई यार की कौन सी डाल पर कब छलांग मरवा दे वो उसकी मर्जी की बात पक्षी गा रहा था बड़े उसके मधुर गीत थे किसी ने पूछा कि आप रोज इधर ही रहेंगे कितने दिन तक रहेंगे इसके बाद कहाँ जाएंगे पक्षी ने कहा ये मुझे पता होता तो गीत ही नहीं गा सकता था ऐसा मेरे को भी पता नहीं है तुम्हारी कसम मेरे को पता नहीं कि कहा वो ले जाना चाहता है कब ले जाना चाहता है कोई पता नहीं लेकिन सौंप दिया है कि आई एम रेडी इधर तो अभी जागृत में तो इतने लोगों के बीच क्यों कुछ हो रहा है फिर चाहे क्या भी हो सूक्ष्म जगत का वो तो वही जाने उसकी मर्जी जाने बाबा अपन लोग क्या जाने हवाएं उसकी ले रहे हैं सूर्य के किरण उसी के पी रहे हैं पानी उसी का पी रहे हैं धरती उसी का यूज कर रहे हैं तो हमारा बीच में है क्या ये साग उसी खा है जो तेरी मर्जी को निगमा गाया कर हम बीच में नहीं अड़चन होंगे ये साग तेरा है जहां रखना चाहे रखा कर जो गीत गाना चाहे गाया कर बजाना चाहे बजाया कर हम बीच में अड़चन क्यों हूं बस ऐसा है ओम ओम ओम दुनियादार जा सिर पटकते हैं आशिक वहीं कदम रखते हैं हम लोग जो संसार की चीजों के लिए सिर पटकते रहते हैं भगवान के प्यार उसको ठोकर मार के और आगे बढ़ते हैं अब दो दो काम नहीं होते एक तो तेरे साथ घूमते रहे और फिर संसार के नश्वर व्यवहार को भी संभालते रहे दो दो काम नहीं होते अब नहीं संभाल पाता दो दो काम सच कुछ तो सब बोलने की भी इच्छा नहीं होती जबरदस्ती आप लोग आते हैं ना तो आप लोग को कोई संकल्प यहाँ से कुछ निकलवा तो सकता क्योंकि बोलने की रुचि नहीं होती small. Hmm. और मौन में भी बहुत कुछ मिलता है आदान प्रदान होता है ऐसा नहीं कि बोल लें तभी कुछ होता है मौन में भी होता है जो लोग ऊंची स्थिति के आ गए वो तो मौन से भी लाभ होते हैं ओम ओम उहे ॻाल्हियूं यादि में वरे साईं केतिरो केतिरो नमको ॾिनो असां छा छा उहे साईं आहिनि छा कया वाह वाह ठीकु आहे वक्त बहुत कीमती है इसका जितना उपयोग करना चाहो जितना निकल जाओगे निकल जाओगे आगे फिर पता नहीं मन कौन से चक्कर में डाल दे अभी जो सत्संग मिलता है ना सत्संग बड़ा सहारा होता है अच्छा तो टोक साहब जन्म जन्म पर जरा नहीं करो तो अच्छा करो तो अच्छा। मुकुट पहराते हैं हार पहरातियां जलाते हैं भूख करते हैं केक लाते हैं ये बापू का स्वागत करते हैं ऐसा तुम्हारा भाव लेकिन हम भगवान साक्षी रख के बोलता हूँ कि हमारे लिए ये सब शरारत लगता लेकिन बच्चा शरारत करते करते भी अगर चलना सीख जाए बोलना सीख जाए तो चलो उसके साथ तो उतना बोलो झुक के चलो नहीं तो क्या है देह देश में आना है जन्मदिन मनाना है फूक मारना है कहीं आना है क्या मतलब तो फूक दिया सारे दुनिया का तो मोमबत्ती को क्या फूक मारते हैं हाँ तो इंद्र के राज्य को भी फूंक दिया तो मोमबत्ती को क्या फूक मारना जन्म मृत्यु को फूक दिया गुरु महाराज की कृपा से तो मोमबत्ती को फूक मारना और कहा बचा ऐसा ही फूक मारे लोग मारो फूक <laughs> केसरिया कौन कर्म के कर्ता बन जाते इस अनंत को सौंप के सब हो रहा है ठीक है जो हो गया वो ठीक है जो हो रहा है ठीक है जो होगा वो ठीक है हाँ। अड़चन नहीं होता है उसमें अपन लोग अड़चन हो जाते ना कर्ता बन जाते तभी अड़चन होती अपने कर्ता न बने उसको सौंप हो रहा है करो मत करो मत करने वाला तो खोजो तो मिलेगा भी नहीं ऐसे बेईमानी करते हैं हम लोग माल तो किसी का मालिक कोई बन जाता है और पांच बुद्ध तो परमात्मा के हैं और शरीर बना पांच बुद्ध से तो शरीर तो हुआ परमात्मा का तो शरीर के द्वारा जो कर्म हुए वो भी तो परमात्मा के हुए अगर मैंने किया लो अब बेईमान आदमी को चाहिए सुख ये बेईमानी है ना हवाएं उसकी ले रहे हैं एक एक मिनट बना हवा तो रुको तो जरा पता चला ओ मुझे गोरी पुटे तुझे मुंह बात तो नक दबाए एक मिनट तक तो केड़ो अनुभव थे खतरनाक एक मिनट दबाया था उसका एक मिनट भी बिना श्वास के तो रह नहीं सकते तो श्वास उसी का ले रहे हवाएं हमने तो बना ही नहीं फिर हमने बनाया नहीं जमीन हमने बनाई नहीं हाँ, माता पिता को भी हमने तो बनाया नहीं माता पिता भी उसकी बनावट है और उसी से हमारा जन्म सब उसी का है और